ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे काचि प्रतिष्ठितम् आदिराविर्मलेधि वेदश्च महानिस्तः श्रुतम् मे मा प्रहासवीरनेनाजीतेन होरात्रान् सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तत्प्रकारमवतु अवतु माम् अवतु भवताम् अवतु भक्ताम् ॐ ऋग्वेदीय ऐतरोपनिषद अवतरण भाष्य के ऊपर विचार चल रहा है जिसमें पूर्व पक्ष ने कहा कि आत्मज्ञान कर्मी को होगा मान गृहस्थाश्रमी को होगा और कर्म संबंधी होगा अपने भाष्य वक्तव्य में सिद्ध किया पूर्वादि तो सिद्धांत का नाम जो विद्युत सन्यासी होगा वहां पर कर्म संबंधी आत्मज्ञान नहीं हो सकता वो कर्मी भी नहीं होता कर्मी क्यों नहीं होता विद्युत सन्यासी परमात्मार्थ विज्ञान है फलादर्श में परमार्थ आत्मा आत्मा रूप से पर, ब्रह्म को अपना स्वरूप पहचान लिया जिसने मैं परमात्मा हूं ऐसा ज्ञान हो गया मैं मनुष्य हूं ज्ञान हो गया है ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान हो गया ऐसा ज्ञान होने पर कर्म का फल उसको नहीं दिखता स्वर्ग आदि पुत्र आदि फल नहीं कर्म का फल स्वर्ग आदि पुत्र आदि जो फल है नहीं दिखता अयलौकिक फल पारलौकिक फल इसलिए कर्म अनुपत्ति है कर्म नहीं हो सकता विद्वत सन्यासी कर्म नहीं कर सकता आत्मज्ञान जो होता है कर्मी असंबंधी है कर्मी नहीं कर सकता और कर्म असंबंधी भी है जो विद्वत सन्यासी ने देखा वो कर्मी भी नहीं है कर्म संबंध भी नहीं हो ऐसा सिद्धांत ने उत्तर दिया उसके ऊपर पूर्व पक्ष ने कहा था फलादर्शन भी नियुक्तत्वाद करो चेत फल न देखने पर भी शास्त्र तो सबके लिए आदेश है शास्त्र का आदेश है तो कर्म करेगा अग्निहोत्रम जुहयात यावत जीवित अग्निहोत्रम होती ये वाक्य सबके लिए है ज्ञान ही ना करे ऐसा वाक्य तो है नहीं फल नहीं है उसको वो आत्म साक्षात्कार में पहुंचा हुआ फिर भी वेद वाक्य है इसलिए उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा तो कर्म संबंधी हो जाएगा आत्मज्ञान ये पूर्वादी की क्षमता थी उसका उत्तर में सिद्धांत का नाम कहा था टीका चल रही थी इसकी फलादर्शन पर टीका कर्म कौन करता है सिद्धांत कहते हैं मम इदम कार्यम यदि बोधा ही मेरा ये कर्तव्य है जो जानता है मेरा ये कर्म है जो समझता है मैं अमुक जाति का हूं देहाभिमान है मैं अमुक जाति का हूं अमुक वर्णी हूं इस आश्रम में रहता हूं अमुक जाति वाला हूं अमुक आश्रम में हूं अमुक वर्णी हूं मेरा यह कर्तव्य बनता है जो कर्तव्य वर्णाश्रम धर्म को लेकर के भिन्न भिन्न कर्म है सबके ब्राह्मण के लिए जो कर्म होगा क्षत्रिय के लिए नहीं अभिमान जो तो ब्राह्मणत्व का अभिमान जिसमें होगा वो क्षेत्रीय संबंधी कर्म नहीं कर सकता तो क्षेत्रीयत्व का अभिमान जहां होगा वो ब्राह्मण संबंधी कर्म नहीं कर सकता तो जाति का अभिमान घटित और आश्रम का अभिमान घटित कर्म होता है ये कर्म कौन करता है सिद्धांत बोलते हैं तो नियोज्य का नियोग का विषय कौन बनता है वेद का आदेश का विषय कौन बनता है अग्निहोत्रम ज्योति आदि वाक्य का पालन कौन करता है मम इदम कार्यम इति बुद्धा ही जो ऐसा जानता है जानता है मेरा एक कर्तव्य है ऐसा समझता है कर्तव्य समझने वाला वियोग ऐसे विषय विवेज्य कोई तो शास्त्र का जो वियोग अरे विधि लिंग लोट तब्यत का जो वियोग बोलते हैं लिंग लोट तब्यत जहां आया जैसे अवरोधन जुहियात आदि वाक्य आया वो नियोग है आदेश है उसका विषय जो नियोज्य व्यक्ति हो जाता है कौन होता है वियोज्य व्यक्ति मम एकदम कर्तव्य जिसको ऐसा ज्ञान है मेरा एक कर्तव्य है या कर्म मेरे लिए है अन्य के लिए ऐसा ज्ञान होगा वही वो वेद का आदेश का पालन करने वाला होता है कार्य स्वकीय ज्ञान कौन सा जो कर्म में अपना स्वकीय तो ज्ञान मेरा कर्म है ये मुझे करना है मेरा कर्तव्य है ऐसा समझता है जो कार्य स्वकीयत्व ज्ञान से तब फलार्थिनो उस तजन्य हो कर्मजन्य फलार्थी को लिए कार्य में स्वकीय तो ज्ञान भी होगा मेरा कर्म है इसका फल मैं भोगूंगा ऐसा ज्ञान होगा तो कर्म करेगा किंतु न च आत्मनो असंगित्व ज्ञान हो मम इदम इति बुद्धि भवती तो आत्मा को असंग रूप से समझ लिया न हम देह न मे देह इस भाव में पहुंचा है मैं शरीर नहीं हूं शरीर मेरा नहीं है ऐसी बुद्धि में जो पहुंच चुका है आत्मा को असंगता ला चुका है उसके लिए कर्म नहीं हो सकता न चाहे तो आत्मा असंगित ज्ञान हो आत्मा को जो असंगी समझता है देहादि के साथ संपर्क नहीं ऐसा समझने वाले का मम इदम विधि बुद्धि भवती वहां मम इदम यह कर्म मेरा ऐसी बुद्धि नहीं होगी वो तो जाति अभिमान पूर्वक कर्म होता है और आश्रम अभिमान पूर्वक कर्म होता है मैं अमुक जाति का हूं अमुक आश्रम हूं मैं ब्रह्मचारी हूं ब्राह्मण हूं अथवा मैं सन्यासी हूं ब्राह्मण हूं इत्यादि जो भी अभिमान होगा दो धर्म है जाति धर्म आश्रम धर्म उसका अभिमान जिसको होगा वही कर्म करेगा किंतु वो जो विद्वत सन्यासी होगा आत्म साक्षात्कार जिसको हो गया वो विद्वत सन्यासी तो उसको न जाति अभिमान है न आश्रम का अभिमान है इसलिए आत्मा को असंग समझने वाला जो होगा न ये कहा न च आत्मनो असंगित्व ज्ञानी हो आत्मा को आत्मा को जो असंग समझता है देहादि से पृथक समझता है जो ऐसा जानने वाले का मम इदम बुद्धि न भवती ये मेरा कर्तव्य है ऐसी बुद्धि नहीं होती उसको तो देह में अभिमान नहीं है उसका अतो न तस्य नियुक्तत्व इसलिए शास्त्र उसको आदेश नहीं दे सकता अग्निहोत्र याद इस वाक्य का पालन वो नहीं कर सकता वो वाक्य उसको बो, कुछ बोल ही नहीं सकता उसका नियुक्त नहीं कर सकता एक आ न सिद्धांत का न नियोगा विषयत्वात आत्मदर्शन नियोगा दर्शन नियोगा विषय आत्मदर्शनाद कहा उस ज्ञानी का क्या होगा जो नियोग का अभिषय है वेद का आदेश का विषय नहीं है जो ऐसा जो अभिषय जो आत्मा है वो दर्शन हो चुका है वो साक्षात्कार हो चुका है उसका इसलिए वो कर्म नहीं कर सकता ज्ञानी इसे आत्मज्ञान कर्म संबंधी नहीं है ये सिद्धांत कह रहे हैं पूर्वादि ने बहुत दिन बहुत सारे शब्दों से लागे आत्मज्ञान कर्म संबंधी कर्मी करे कर्मी को ही होना है बोला था वो नहीं हो सकता ठीक है भाई देखें तदेव उपादय उसी को ही सिद्ध करते हैं माने जो नियोगा विषय आत्मदर्शन होने के कारण कर्म नहीं हो सकता उसी को आगे विशेष करके प्रतिपादन करते हैं कैसे तो भाष्य में कहते हैं इष्ट योग अनिष्ट वियोगम च इष्ट योगम अनिष्ट वियोगम च आत्मना प्रयोजन पश्चिम देखो भाई कर्म करने वाले का दो ही कारण प्रयोजन दो ही होगा इष्ट का योग अनिष्ट का वियोग चाहता है इष्ट वस्तु की प्राप्ति चाहता है अनिष्ट की निवृत्ति चाहता है इसके लिए कर्म करता है यही होगा इष्ट योगम अनिष्ट वियोगम से आत्मना प्रयोजन अपना प्रयोजन वो जो समझता है मेरे लिए इष्ट है ये करना है और ये अनिष्ट है ये हटाना है ऐसा समझने वाले के द्वारा कर्म होता है इष्ट योगम अनिष्ट वियोगम च आत्मना प्रयोजन पचन अपना प्रयोजन देखता हुआ तद उपायार्थी जो इष्ट योग किस उपाय से मिलना है अनिष्ट का वियोग किस उपाय से होना साधन में तब प्रेरित होगा इष्ट योग अनिष्ट का वियोग देखता है जब वो चाहने वाला व्यक्ति उसके जो उपाय उपायार्थी वह साधन चाहता है जो जो भगवती सनियोग से विषय दृष्टि लोके वही व्यक्ति आदेश का विषय देखा है लोक में ऐसा देखा है कैसा देखा तो टिप्पणी में कहा स्वास्थ्यार्थम औषधम सेवमाणो ही रुकना ये रोगी व्यक्ति है अपने स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए औषध की सेवा कर सेवन कर रहा है उसको वैद्य बोलेगा भेषज के बारे में ये खाना ये नहीं खाना वो उसका वो करेगा इष्टयोग चाहता है वहां तथ्य और अनिष्ट का वियोग चाहता है इसलिए वैद्य की बातों को मानता है वैसे यहां भी वेदों के बातों को वही मानेगा जो इष्टयोग देखता हो अनिष्ट का वियोग देखता हो ये जो आत्म साक्षात्कार जिसको हो चुका है ना उसका इष्ट योग है ना अनिष्ट वियोग है इसलिए वहां कर्म होना संभव नहीं है कहते हैं न तो तद विपरीत हो जो इष्ट योग और अनिष्ट वियोग नहीं देखता जिसको आत्मविदता है जो उसको योगा विषय ब्रह्मात्मा शास्त्र का आदेश का विषय नहीं है जो ब्रह्म उसको आत्म रूप से आत्मा आत्मरूपेण द्रष्टुम शीलम यश से आत्मदर्शन उस ब्रह्म को आत्मरूप से देखने का स्वभाव बन गया हमेशा वही दिखता है उसको ऐसे व्यक्ति कर्म नहीं कर सकता एक ठीक <clears throat> मम इदम कार्यम इति बोधाभावे भी चे नियोज्यता यदि ऐसा होने पर भी मेरा ये कर्तव्य है ऐसा ज्ञान नहीं है जिसको वो भी यदि शास्त्र का आज्ञा पालन करना हो उसको भी शास्त्र बोलता हो तो करना हो तो क्या होगा तभी राजसूयादिगम ब्राह्मण तुम कर्तुम राजसूय ये क्षत्रियों का अधिकार का तो होता है ब्राह्मण नहीं कर सकता किंतु मम इदम कर्तव्य में ऐसा बुद्धि न होने पर भी कर्म करता हो तो राजसूय आदि यज्ञ ब्राह्मण आदि के द्वारा भी होने लग जाएगा निष्ठा होगा जो नियोज्य नहीं है उसके लिए भी शास्त्र नियोग करता हो तो राजसूय यज्ञ में ब्राह्मण नियुक्त नहीं है फिर भी शास्त्र ने आदेश दिया तो करना पड़े ऐसी स्थिति आ जाएगी अनिष्ट होगा ये कहा मम इदम में यदि बोधाभावे भी मेरा ये कार्य है कर्तव्य है ऐसा ज्ञान जिसको नहीं है ऐसी स्थिति में चे नियुज्य था वह आत्मज्ञानी को मम इदम कर्तव्य बुद्धि नहीं है फिर भी शास्त्र बोलता है अग्निहोत्र जुहुया इसलिए उसको नियुक्ति करना हो तो तरी राजसूयादिकम ब्राह्मणादिकम कर्तव्य से राजसूयादि जो कार्य है क्षेत्रियों का होता है किंतु तो ब्राह्मण के द्वारा कर्तव्य जो नियोग का विषय नहीं वो भी नियोग होता हो तो करना पड़े ऐसी स्थिति आएगी अनिष्ट होगा दूसरी बात अग्निस्टोमा आदि गमचा सर्वदा कर्तव्य से आता अग्निस्टोमा आदि याग हमेशा करने का प्रसंग आ जाए कैसा आएगा तो टिप्पणी का कार कहेंगे निर्निमित तत्व विशेषाध निमित्त का अभाव है कोई निमित्त में अग्निस्टोमादि कब करना किसने करना वो निमित्त नहीं है तो कभी भी करने पर प्रसंग आ जाएगा ये अनिष्ट होगा कहा छह की टिप्पणी में कहते हैं अग्निस्टोमा तोमादिकम का सर्वदा ही अग्निष्टोमो ही सोमयाज्ञ संस्थासु आद्य संस्था निर्धारित निर्धारी कहा अग्निष्टोम क्या है सोमयाग में अनेक याग होते हैं उनमें से प्रथम याग का नाम अग्निष्टोम है सोमयाग जो याग होगा विशेष याग है जिसमें अनेक याग होते हैं उसमें जो प्रथम याग होगा उसको अग्निष्टोम कहते हैं ये कहा हुआ है अग्निष्टोमो ही सोमयाग से संस्थासु सब सोमयाग के अनेक यज्ञ होते हैं वहां उनमें से आद्य संस्था इति निर्धारी ऐसा निर्धारण किया है या एतेन एते अग्निष्टोम प्रकरण ऐसा अग्निष्टोम प्रकरण माने जैविन सूत्र है अग्निष्टोम प्रकरण में आया ऐसा इति अधिकरण तथा च सोमयागांग जो अग्निष्टोम होगा सोमयाग का अंग होगा प्रथम अंग होगा वो अंगत्वेन तन निमित्तक दया सोमयाग निमित्तक होने के कारण जब तक सोमयाग नहीं करेगा तब तक अग्निष्टोम नहीं कर सकता नियम यही होगा जो सोमयाग का अंग है अग्निष्टोम ऐसा होने से सोमयाजी ना एवं सता कर्तव्य कर्तव्य तो दिया अनुष्ठेय तुम सोमयाजी के द्वारा ही कर्तव्य बुद्धि से अनुष्ठेय होगा अभिष्ट होगा नियम तो यह है अधुना तो यदि ऐसा नियम नहीं है जो अनियोज्य होगा उसको भी करना होगा तो उस स्थिति में तो अधुना तो तद अनुष्ठान से सर्वाधिक सर्वाधिकत्व से अन्य यागों के साथ भी करने लग जाए प्रथम याग में करना कोई आवश्यकता नहीं कहीं भी कर सकता है ये आपत्ति आ जाएगी कहा तत्र हेतु महा निर्निमित्व दशेषा निमित्त का अभाव दोनों स्थिति में है जो नियोज्य नहीं है उसको भी नियोज्य करता हो शास्त्र बोलने पर करना पड़ता हो तो स्थिति में कोई भी कर्म किसी से भी होने लग जाए अनिष्ट हो ये कहा सिद्धांत आगे टीका में कर अच्छा तो टीका में कहा ब्रह्मात्मत्वदर्शी अपनी सन सन के नियुज्यता यदि आत्मभाव में जो पहुंच चुका है अहम ब्रह्माष्टमी पहुंचा हुआ व्यक्ति भी अग्निहोत्रम जुहयात वाक्य के यदि आदेश का पालन करना उसको पड़ता हो नियुक्त हो जाता हो उस कार्य में ब्रह्मात्मा को दर्शी अपनी जो ब्रह्मात्मा भाव में पहुंचा हुआ है अहम ब्रह्मास्म में पहुंचा हुआ है माने ब्रह्म साक्षात्कार कर चुका है विद्वत सन्यासी है वो व्यक्ति को भी ऐसा होता होगा भी यदि वेद बोलता हो तो नियुक्ति इसकी होनी हो आदि में नियुक्ति होनी हो तो क्या होगा नियोगा विषय विषम वो नियोग का विषय नहीं है वो ब्रह्मात्मत्वदर्शी वेद का आदेश का पालन के योग्य नहीं है वो ऐसे होने पर भी यदि नियुक्त होता हो उस काम को उसको करना पड़ता हो तो क्या होगा न कश्चित न नियुक्त ही फिर कोई भी किसी कार्य में नियुक्त नहीं हुआ ये बात नहीं होती जब ये अनियुक्त व्यक्ति भी नियुक्त होता हो तो कोई भी कर्म में कोई भी नियुक्त हो जाएगा फिर तो फिर वर्णाश्रम घटित घटित कर्म आदि होना संभव नहीं होगा कोई भी कर्म कोई भी कर देगा और किसी भी कर्म को किसी भी काल में करेगा ऐसी स्थिति आ जाएगी ये कहा यदि सर्वम कर्म सर्व सर्वेण सर्वदा कर्तव्य प्राप्त होती सारा कर्म सभी व्यक्ति के द्वारा हमेशा क्योंकि कर्म के लिए किस कर्म को किसने करना है कब करना है जाति घटित आश्रम घटित काल घटित कर्म का नियम है किंतु अगर अनियोज्य व्यक्ति भी नियुक्त होता हो तो वहां कोई नियम नहीं रहा नियम न होने से कोई भी कर्म किसी के द्वारा भी कभी भी हो सकेगा व्यवस्था बिगड़ जाएगी ये सिद्धांत क्या है तत्व अनिष्टम ऐसा व्यवस्था बिगड़ना अनिष्ट है ये कहा ठीक है नया द्वय न सर्वोपि नियुक्त है वह इत्यर्थ न कश्चित न नियुक्त दो नए लगा हुआ है दो नए लगने से प्रकृति का बोध कराया गया सभी नियुक्त माने जाएंगे ये कहा ठीक है आगे कहते हैं किंच और भी बात है नियोक्ता भी अश्य किम चलो ये ज्ञानी को भी नियोग करेगा मानते हो आदेश देता है तुम्हें कर्म करना पड़ेगा विद्वत सन्यासी है ब्रह्म साक्षात्कार करके बैठा है वेद आदेश दे रहा है तो क्या वह आदेश कौन देता है वेद देता है या कोई व्यक्ति देता है उसको तुम्हें कर्म करना पड़ेगा अग्निहोत्रादि कर्म करना पड़ेगा करके उस ज्ञानी को आदेश देने वाला कौन ये प्रश्न होता है सिद्धांतिक विकल्प खड़ा करते हैं किंच नियोक्ता भी अश्यमान अश्य विदुष वो जो विद्वान है उसको नियोक्ता कौन होगा उसका नियोक्ता किम यह किम यह कश्चन पुरुषो वेदवा जो कोई एक व्यक्ति मनुष्य आदि कोई हो उसको आदेश देता हो तुम्हें कर्म करना पड़े देखो शास्त्र बोलता है अग्निहोत्र द्विया तुम्हें भी करना पड़ेगा यावत जीवन अग्निहोत्र द्विया है तुम्हारा जीवन है अग्निहोत्र करना पड़ेगा ऐसा कोई व्यक्ति विशेष बोलता हो या वेद बोलता है उसको कौन बोलता है नियोग कौन करता है उसको आदेश कौन देता है कहते हैं आद्य प्रथम पक्ष हो कोई पुरुष कोई मनुष्य उसको आदेश देता हो उस ज्ञानी को तुम्हें कर्म करना पड़ेगा शास्त्र में बताया है करके बोलता हो तो आद्य विदुष ईश्वरात्म को ज्ञान वो जो ज्ञानी है ईश्वर को आत्मभाव से जान करके बैठा हुआ है ईश्वर से भिन्न नहीं परमात्मा से भिन्न भाव में नहीं है आत्म ज्ञान सर्वनियोक्तृत्व सर्वनियुक्तृत्व वही सबका नियोक्ता होगा सबका नियंत्रण करने वाला वही ज्ञानी हो जाएगा जो वो ईश्वर भाव में है वो ईश्वर से अभिन्न रूप में है इसलिए जो आदेश देने वाला होगा उसको भी वो नियंत्रण करने वाला होगा ज्ञान ईश्वरात्म भाव में है वो मन से नियोक्तृत्व न स्वनियोज्य न अन्य न अश्य नियोज्यत्म तो क्या स्थिति आ जाएगी अपने नियोज्य व्यक्ति के द्वारा नियोज्य होना के प्रसंग आ जाएगा अपने सेवक से स्वामी कभी नियोज्य नहीं होता अगर अन्य व्यक्ति इसको कोई व्यक्ति विशेष नियोग करता हो आदेश देता हो तो जो जो आदेश देने वाला होगा इसका नियोज्य होगा क्यों ये व्यक्ति तो ईश्वर भाव में पहुंचा हुआ ज्ञानी तो अन्य ईश्वर भाव में है ही नहीं मनुष्य भाव में है वो तो उसके द्वारा नियोज्य है वो उसके द्वारा नियोज्य मानना पड़ेगा नियोज्य के द्वारा नियोज्य आपत्ति है सेवक के द्वारा स्वामी नियोज्य नहीं होगा यह आपत्ति क्या तच्च विरोधात न संभव ये हो नहीं सकता है नियोज्य के द्वारा नियोक्ता नियोज्य हो ऐसा तो नहीं देखा क्यों वो जो ज्ञानी तो ईश्वर भाव में है और वो आदेश देने वाला व्यक्ति जीव भाव में है अभी मनुष्य भाव में है तो उसके द्वारा नियोजित होना माने सेवक के द्वारा स्वामी नियुक्त होना ऐसा तो और नहीं हो सकता अनिष्ट होगा तच्च विरोधा न सम्मति का न च न चस नियोक्तम सत्यते के नचित कहा वो जो ज्ञानी स माने ज्ञानी विद्वत सन्यासी जो होगा ज्ञानी किसी व्यक्ति के द्वारा भी नियंत्रण करना उसको संभव नहीं होगा आदेश देना संभव नहीं है शास्त्र बोलता है तुम्हें करना पड़ेगा कोई बोल नहीं सकता अग्निहोत्रादि कर्म कराना इसी के द्वारा भी संभव नहीं उसको उस तो विद्युत सन्यासी आगे विभिषा संन्यास के बारे में सत्र पृष्ठ के बारे में चर्चा करेंगे वो कर्म करेगा कि नहीं करेगा कैसा करेगा विचार करेगा अभी तो विद्युत सन्यासी को लेकर है टीका में आगे तस्व सर्वनियोक्तृत्वा इत्यर्थ न तो सर नियुक्तम सत्य चयन के माने वही व्यक्ति जो होगा ज्ञानी जो होगा सबका नियोक्ता बना हुआ क्यों ईश्वर भाव में होगा पूर्वादि का था नो अन्य से नियोजत्वाभावे भी आमनायन न विद्वान नियोज्य भाई अन्य कोई व्यक्ति उसको नियुक्त नहीं कर सकता तुम्हें कर्म करना कर वेदा वेदभीत कर्म करना पड़ेगा नहीं बोल सकता किंतु तो, तो शास्त्र तो बोलेगा ना वेद के द्वारा नियुक्ति हो जाएगी उसकी शास्त्र बोलेगा भाई राजा क्या है वेद की बच्चनों को राजा के समान राजा जो बोल दे तो अनुरत नहीं होता वेद के जो है राजा आज्ञा होती है राजा के आज्ञा के समान वचन होता है तो पूर्वाजी बोलता है नानो अन्य से नियोजित्वाभाव है अन्य कोई व्यक्ति नहीं है उसके लिए नियोजित अग्निहोत्रादि कर्म में लगाने के लिए न होने पर भी विद्वान आमनाय का नियोज्य से आदो जो ज्ञानी होगा वेद के द्वारा नियुक्त हो जाएगी नियुक्ति होगी उसकी वेद बोल रहा है यावत जीवित अग्नोत्र जुया ये वाक्य को काटने पर पाएगा उसको अग्नोत्र करना पड़ेगा ज्ञानी को शास्त्र के द्वारा शास्त्र नियुक्ता होगा उसका ये नियोज्य हो जाएगा ये पूर्वाजी का कहना है शादी अच्छा, द्वितीय आशंक्य सिद्धांत ने प्रश्न किया था जो नियोक्ता इसका कौन है कोई पुरुष विशेष है वेद विशेष है तो वेद है यहाँ ऐसा मानेगा वो असंख्य हाँ, कहते तस्या तस्या आमना ऐसे श्रोताम आपन्न स्वविज्ञान पूर्वकत्वाद स्ववचन है ना स्वस्थ नियोजत्व एकत्र कर्म कर्तृत्व विरोधात न संभवती सिद्धांत बोलते देखो दस्य आमनाय से उस आमनाय का भी क्या होगा वो ईश्वरताम आपन्न ईश्वर भाव को है वह आमनाय भी उसके मुख से निकला हुआ है ईश्वर भाव में गया है तो ईश्वर के मुख से वेद निकले हुए हैं तस्य अस्य महत्वभूत निश्चित ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद ऐसे वाक्य आता है वो ईश्वर भाव में आत्मभाव परमात्मा भाव में है इसलिए तस्य वो जो ज्ञानी जो है आमनाय से उस आमनाय का भी ईश्वरताम आपन्ना ईश्वर भाव को प्राप्त है ज्ञानी होने से स्वविज्ञान पूर्वकत्वात वो जो वेद अपने विज्ञान पूर्वक है जैसे जैसे भीतर विज्ञान आया वैसे से उसे उच्चारण किया है वेद को तो विज्ञान पूर्वकत्वा कोई भी लेखन ही लिखता है या वाणी बोलता है पहले स्वयं समझेगा तब बोलेगा उस ज्ञानी के विज्ञान पूर्वक वेद है जो विज्ञान पूर्वकत्वा स्वचन है ना स्वच्छ नियोजित्व और अपने वाणी के द्वारा उसी के वाणी के वेद और अपने वचन के द्वारा स्वयं का नियोज्य होना संभव नहीं अपने वचनों से दूसरे को नियुक्त करेगा न कि अपने नियुक्त होना है स्वचन है ना स्वच्छ नियोजित्व एकत्र कर्म कर्तृत्व विरोधार एक ही व्यक्ति में कर्म भी वही बने कर्ता भी वही बने संभव नहीं है इसलिए न संभवती सिद्धांत करें ये भी नहीं सकता वेद भी उसको आदेश नहीं दे सकता कर्म करना पड़ेगा करके आदेश नहीं दे सकता ये कहा टिप्पणी थी अन्य से के ऊपर में दो नंबर की टिप्पणी थी अन्य से भी कर्तरी ष्टी ये तृतीय अर्थ में ष्टी है कर्तिकर्म में तृतीय सूत्र है क्रीडंत के योग में कर्ता में अथवा कर्म में ष्टी विभक्ति होती है ये कहा यहाँ नियोज्य पद जो है क्रीडंत है उसके योग में तृतीय होनी थी अन्य होना था उसके सामने ष्टी कर दिया अर्थ आएगा अन्य अन्य के द्वारा नियुक्त नहीं मान सकते कहा इसलिए कहा आमनाया से तत्प्रभुत्वाद भाष्य में कहा जो वेद है वो भी उसी के द्वारा उत्पन्न होता है प्रत्येक कल्प के आदि में उसी के द्वारा वेद उत्पन्न होता है आमनाया से अभी तत्प्रवत ज्ञानी के द्वारा उत्पन्न है वेद तत्प्रभव जैसे तत्प्रभव वही उसी से उत्पन्न है वो ज्ञानी क्यों ईश्वर भाव में है ईश्वर से अभिन्न है अभिन्न होने के कारण ईश्वर से वेद उत्पन्न हुआ है ऐसा मानते हैं आमनाया से तत्प्रभुत्व वही ज्ञानी से उत्पन्न हो रहा आमनाया वेद इसलिए नहीं विज्ञान उत्थेन बदसा स्वयं विज्ञते कहा उसी के द्वारा उत्पन्न जो वाणी है उसके द्वारा अपने द्वारा उत्पन्न विज्ञान के द्वारा उत्पन्न वाणी के द्वारा स्वयं नियुक्त नहीं होता ये कहा नहीं विज्ञान उत्थेन बदसा अपने विज्ञान से उत्पन्न जो वाणी है ऐसे वाणी के द्वारा स्वयं न नियुक्त स्वयं व्यक्ति नियुक्त नहीं होता इसलिए आम न्याय भी उसको नियुक्त नहीं कर सकता शास्त्र भी उसको अधिकार नहीं जमा सकता तुम्हें अग्निहोत्रादि करना पड़ेगा करके यावत जीवित अग्नोत्रम जुड़ियात आदि वाक्य इसके ऊपर लागू नहीं हो सकता ज्ञानी के ऊपर इसलिए कर्मी के साथ ज्ञान नहीं है ज्ञान कर्म जिसने छोड़ दिया उसके पास ज्ञान नहीं और कर्म संबंधी भी नहीं सिद्ध हो रहा है ठीक है मैं आगे ठीक है मैं कहते किंच व्याकरण आदेश तत्कर्तृ आदि ज्ञेयिक देशार्थ विषय कुदर्शन वेद से ईश्वरजन्य ईश्वर के एक देश विषय अल्पज्ञवाद अभी अधिक अधिकज्ञ ईश्वर नियोक्तृत्व अयुक्तम कहते हैं देखो व्याकरण आदि में देखा है पाणिनि जी ने व्याकरण को बनाया किंतु पाणिनि जी के जो बुद्धि ज्ञान है व्याकरण से जितने व्याकरण में लिखा उससे ज्यादा ज्ञान है जो लेखक होता है कोई भी एक लेख देता है जो लेख देता है उससे अधिक ज्ञान वाला होता है ज्यादा ज्ञान उसके पास है ये देखा है किंच व्याकरण आदि व्याकरण आदि देखा है चाहे न्याय शास्त्र देखे व्याकरण देखे जो भी देखे व्याकरण आदि तत्कर्ती पाणिनि आदि वो जो व्याकरण का कर्ता पाणिनि आदि होते हैं उनके ज्ञ के देश अनेक ज्ञ है उनके अनेक को जानते हैं वो किंतु उसका एक देश है व्याकरण पूरा ज्ञान उतना ही नहीं और भी ज्ञान है और विषयों का भी ज्ञान उनके पास किंतु थोड़ा ज्ञान है होता है व्याकरण का ज्ञान थोड़ा है बाकी उनके पास और ज्ञान है ये देखा है ये दृष्टांत है किंच व्याकरण आदेश तत्कर त्रिपाणी ने आदि ज्ञ के देशार्थ विषय के वो जो व्याकरण आदि शास्त्रों में देखा उस व्याकरण आदि का कर्ता पाणनी आदि का जो ज्ञ अनेक ज्ञ है अनेक ज्ञान है उनके पास ज्ञ अनेक है विषय अनेक है उनमें से एक विषय का प्रकाश किया है व्याकरण नेतृत्व ये देखा है विषय को तो देखने से वेद वेद भी जो है ना ईश्वर के द्वारा है कर, उसका कर्ता ईश्वर है जैसे व्याकरण का कर्ता पाणिनी तो पाणिनि को उस व्याकरण की अपेक्षा ज्यादा ज्ञान व्याकरण में जितना ज्ञान है उससे ज्यादा ज्ञान पाणिनि जी में है इसी प्रकार वेद की अपेक्षा ज्यादा ज्ञान हो जाएगा उसमें ये कहते हैं ये कहना चाहते हैं वेद से ईश्वर जंग से वेद भी तो ईश्वर से उत्पन्न है ना तस्य महत्वभूत भूत ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ऐसा वाक्य है वेद से ईश्वर जंग से और वो ज्ञानी ईश्वर भाव में है हम ब्रह्माष्टमी में पहुंचा हुआ है तो ईश्वर मान के चल रहे हैं इसको हम हम ब्रह्माष्टमी पर पहुंचा हुआ है वेद श्यापी ईश्वर जन्य ईश्वर ज्ञाय का देश विषय ईश्वर के ज्ञाय अनेक हैं उनमें से एक वेद एक देश हो जाएगा थोड़ा विषय ना अल्पज्ञत्व इसलिए वेद अल्पज्ञ हो जाएगा उस ज्ञानी के सामने वो ईश्वर भाव में है उसमें ज्ञान ज्यादा है अल्पज्ञत्व ना अधिकज्ञ ईश्वर नियंत्रित अधिकम अल्पज्ञ के द्वारा अधिकज्ञ को नियंत्रण करना संभव नहीं है वेद अल्पज्ञ हो जाएगा ज्ञानी अधिक ज्ञान हो जाएगा अधिकज्ञ हो जाएगा तो अल्पज्ञ व्यक्ति के द्वारा अधिक जानकार वाले को रोकना संभव नहीं है नियंत्रण करना संभव नहीं है इसीलिए भी माने वेद उसको आदेश नहीं दे सकता अग्निहोत्र था आदेश नहीं दे सकता उस ज्ञानी को कहा इसलिए कहा ना भी बहुविद ये बोला था ना भी बहुत स्वामी अविवेकिना भृत्यना जो बहुत व्यक्ता स्वामी है बहुत जानता है जो स्वामी बहुत ज्ञान है जो स्वामी के पास जो अविवेकी सेवक के द्वारा नियुक्त नहीं होता तुम ऐसा करो करके उसको नियुक्त नहीं कर सकता की वृत्ति सेवा ठीक इस प्रकार वेद उसके सामने ऐसी स्थिति में उस ज्ञानी के सामने इसलिए वो नियंत्रण नहीं कर पाएगा अवियत्र जुया वे वाक्य लागू नहीं कर सकता ये कह रहे अविवेकिना इति अल्पज्ञान करते जो अविवेकिना वृत्ति ने अविवेकिना अर्थ अल्पज्ञान अल्पज्ञ के द्वारा बहुज्ञ जो होगा वो नियंत्रण नहीं होता नियम नियंत्रित नहीं आता ये कहा अथवा दूसरे भी देते हैं वेद उसको नियंत्रण नहीं कर सकता ज्ञानी को ज्ञानी चेतन है वेद अचेतन है अचेतन व अभिवेकित्व वेद में अभिवेकिता क्यों है अचेतन है इसलिए कुछ अचेतन वेद के द्वारा विवेकी ज्ञानी को नियंत्रण करना संभव है ये भी बात है वृत्तेरा नैविज्यते व्यवसंगा और वृत्ते न आगे पूर्व से लाना नैविज्यते ऐसे जोड़ना कहा नो वेद से ईश्वर ज्ञान पूर्वकत्व पक्षे पूर्वोक्त दोषानुसंगे भी तस्य नित्यत्व पक्ष नागदोष की संगत पूर्वादि एक शंका करता महाराज वेद ईश्वर का ज्ञान पूर्वक है माने ईश्वर उत्पन्न करता है ऐसा मानेंगे तब तो ये दोष आ जाएगा वेद अल्पज्ञ हो जाएगा और वो ज्ञानी सर्वज्ञ हो जाएगा तो अल्पज्ञ के द्वारा अधिक के नियंत्रण का संभव दोष आ जाएगा ठीक है वेद उसको नियंत्रण नहीं करता किंतु वेद को नित्य मानेंगे तो, तो पूर्वादी बोलता है नो वेद से ईश्वर ज्ञान पूर्वकत्व पक्ष है वेद ईश्वर के ज्ञान पूर्वक पैदा होता है ऐसे मानने पर तो दोष आ रहा है वो अल्पज्ञ हो जाएगा किंतु पूर्वक तो अनुसंगे थी पूर्वक तो दोष आदि दोष नियंत्रण नहीं बन सकता है दोष आने पर भी तस्य नित्यत्व पक्ष वेद को नित्य मानेंगे जब कुमारी भट्ट जी ने अपौर से और नित्यत्व सिद्ध किया है पूरे जीवन में वेद को ये सिद्ध किया है नित्य मानने पर क्या होगा नायम दोष ही दोष नहीं आएगा आदि दोष नहीं आएगा वेद में तो वेद नियंत्रण कर सकता है तब तो आदेश दे सकता है ये पूर्वाजी की शंका है यदि शंका कहा तीन की टिप्पणी पूर्वोत्तोष होगा अल्पत्याग दोष अगर ईश्वर से उत्पन्न मानेंगे तो उसका ज्ञेय का देश हो जाएगा अल्पत्य हो जाएगा एक दोष आने पर भी नित्य मानने पर तो उत्पन्न नहीं होना है उसने इसलिए वो दोष नहीं आएगा सिद्धांत ये पूर्वादि ने कहा तो सिद्धांत बोलते हैं पूर्वादि बोलता है राष्ट्र में नेतृत्व से नेतृत्व स्थिति स्वातंत्र वेद देखो एक तो नित्य है दूसरा स्वतंत्र है दूसरे का अधीन नहीं है इसलिए क्या होगा जो बोलते हैं करना होगा ज्ञानी के लिए भी कानून लगेगा उसका ये बोलता है आदमी आमनाय से व्यक्तित्व स्थिति आमनाय मैंने वेद जो है नित्य होता हुआ स्वातंत्र स्वतंत्र है वेद इसलिए सर्वान प्रति नियोक्तृत्व सामर्थ्य सबके लिए नियंत्रण करने का सामर्थ्य है वेद वो जो बोल देगा सबको करना पड़ेगा ज्ञानी हो अज्ञानी हो सबको करना पड़ेगा क्यों नित्य है और ये स्वतंत्र है वो परतंत्र नहीं है सर्वान प्रति ज्ञानी अज्ञानी सबके प्रति नियोक्तृत्व सामर्थ्य नियंत्रण करने का सामर्थ्य है उसमें यदि चेत ऐसा पूर्वादि बोले तो सिद्धांत कहेंगे न बोलेंगे ठीक है देखें तस् अचेतन से नियोक्तृत्व न संभव दी सिद्धांत कहते हैं वो जो अचेतन है हाँ, नित्य होने पर भी स्वतंत्र होने पर भी अचेतन है वे तो सबका नियंत्रण करता नहीं बन सकता एक आ सिद्धांत है तस् मन वेद से अचेतन से अचेतन है वो इसलिए व्यक्तृत्व न संभवती व्यक्तृत्व नियंत्रण करता नहीं संभव होता संभव नहीं तस्य चेतन धर्मत्व तस्य चेतन धर्मत्व इति उत्तर और जो तस्य माने विदुषा जो ज्ञानी होगा नियोक्तृत्व से जो नियोक्तृत्व नियोक्ता कौन बनेगा चेतन धर्म है नियोक्तृत्व चेतन धर्म है वो अचेतन वेद में नहीं रहेगा नियोक्तृत्व इसलिए भी नहीं नियंत्रण नहीं कर सकता ये कह रहे सिद्धांत कह रहे ना करके बोलते हैं ना उक्त दोष आ कोई दोष आ जाएगा अचेतन तो दोष है अचेतन चेतन को कैसे नियंत्रण करेगा ज्ञानी चेतन है वेद अचेतन है ऐसा कहा ठीक है नियुक्तत्व अभिव्यक्तिया भी दोष महा नियुक्त मानेंगे तब भी वही दोष आ जाएगा क्यों वो अल्पज्ञ है और ज्ञानी अधिकज्ञ है वही दोष आ जाएगा उक्त दोष आप बोलते तदेव विवृत उसे भी बोलते हैं चलो नियंत्रण करता मान भी लेंगे तब भी दोष आ जाएगा तथापि कहा भाष्य में तथापि सर्वेण सर्वदा सर्वम सिस्टम कर्म कर्तव्यम इति उक्तो दोषो अपरिहार्य यही कहा तब भी उसको नियमता मानेंगे वेद को तब भी क्या होगा जो अनियोज्य व्यक्ति भी नियुक्त होता हो तो सभी कर्म सभी के द्वारा हमेशा कर्तव्य आ जाएगा किंतु ये दोष है सभी कर्म सभी के द्वारा होना नहीं जाति घटित है आश्रम घटित है वर्ण घटित है कर्म मैं अमुक आश्रम का हूं अमुक वर्ण का हूं मेरे लिए कर्तव्य है ऐसा मानता है और आयु घटित है मैं अमुक आयु में हूं मेरे लिए कर्म होता है वयो आयु घटित है काल घटित है अमुक समय में कर्म किया जाता है ऐसा नहीं लगेगा कोई भी कर्म जो अनियोज्य व्यक्ति भी नियोज्य हो जाता हो तो सभी कर्म सभी के द्वारा कभी भी हो सकता है ये दोष आ जाएगा ये सिद्धांत ने कहा ठीक है अनुयोज्य श्यापी चेत कर्तव्यत्म विदुषा विदुषा अनुयोज्य श्यापी विद्वान वेद के नियोज्य नहीं होता आदेश उसका आदेश का पालन करने वाला नहीं उसको आदेश नहीं देखता वो भी यदि नियोज्य होता हो उसके लिए भी कर्म कर्तव्य भी है अग्निहोत्र आप बोला तो कर्म करना पड़ेगा यदि ज्ञानी को भी तब तो तब ही तब सर्वम शिष्टम कर्म विहितम कर्म जो अशिष्ट कर्म तो कोई नहीं करेंगे वैदिक कर्म करने वाले शिष्ट कर्म जितने भी होंगे अच्छी शुभ कर्म जो होगा शिष्टम विहितम सर्वेणा भी कर्तव्यम सभी के द्वारा कर्तव्य बन जाएगा तब तक वर्णाश्रम घटित कर्म नहीं रहेगा फिर क्यों अनुयोज्य ज्ञानी भी नियुक्त होता है तो ये भी सारे अनुयोज्य व्यक्ति नियुक्त हो जाएंगे किसी भी कर्म में किसी का अधिकार आ जाएगा संकोच हेतु अभाव यही कर्म यही करेगा ऐसा संकोच करने में कारण नहीं मिलेगा जब ज्ञानी अनुयोज्य व्यक्ति भी नियुक्त हो रहा है कर्म में तो ये भी जो भी अनुयोज्य होंगे वो नियुक्त हो जाएंगे संकोच करने के कारण नहीं मिलेगा ठीक है आगे कहते हैं पूर्वादि बोलता है असंगी ब्रह्मात्मत्व ज्ञान से कर्म कर्तव्यताया शास्त्र में कृतत्व पूर्वादि एक और साथ तर्क देता है महाराज जो असंगी ब्रह्मात्मत्व ज्ञान शास्त्र के द्वारा ही विधान है वेद ही बोलता है तत्वशी आदि वाक्य कौन बोलता है वेद बोलता है वो भी शास्त्र के द्वारा विधान है और कर्म कर्तव्यता है अविनेत्र जुहियात आदि कौन बोलता है वेद ही बोलता है कर्म की कर्तव्यता को भी आदेश दे रहा है वेद और असंग आत्मता का भी ज्ञान करा रहा है वेद दोनों वेद के वचन है दोनों ठीक है असंगी ब्रह्मात्मत्व ज्ञान से जो असंगी ब्रह्मात्मत्व ज्ञान है वह और कर्म कर्तव्यता से अविनेत्र जुहियात आदि बाकी कर्म कर्तव्य जो दिखाता है शास्त्र शास्त्रे कृतत्व उभयोरपी दोनों के दोनों शास्त्र के द्वारा ही कृत है दोनों शास्त्र के विधान है असंग आत्मज्ञान का विधान जो उसी का है कर्म कर्तव्य शास्त्र के विधान उभय रवि शास्त्र योग प्रामाण्य विशेषता प्रामाण्य अविशेषा दोनों में प्रामाण्य है हाँ, जैसे तत्वशी में प्रामाण्य है वैसे अविरोत्र जो में भी उतना ही प्रामाण्य है शास्त्र के द्वारा विधान है दोनों वाक्य देवी विधान करता है तो प्रामाण्य अभिषेक समान होने से फिर एक को लेना एक को नहीं लेना कैसे होगा वो ज्ञानी को भी जब तत्वमसी को लेगा हम ब्रह्मासी वाक्य को लेगा तो इस वाक्य को भी जाना पड़ेगा अवलोकन जो है आपको भी जाना पड़ेगा ये पूर्वादि की शंका असंगी ब्रह्मात्मत्व ज्ञान से कर्म शास्त्र ने कृत दोनों शास्त्र का ही वचन है ये शास्त्र का विधान है दोनों उभयोर शास्त्र यो दोनों शास्त्र तत्वसी आदि बोलने वाला शास्त्र अथवा अहम ब्रह्माष्टमी बोलने वाला शास्त्र अथवा अग्नोत्र जुड़ियात वाला शास्त्र ये जो दोनों शास्त्र प्रमाण्य अभिशेष दोनों प्रमाण प्रमाण है दोनों एक ही शास्त्र का विषय है दोनों दोनों प्रमाण होने से कदाचित आत्मज्ञानम कदाचित कर्मानुष्ठान श्याम तो क्या करेगा कभी कभी कर्म का अनुष्ठान करेगा थक जाएगा कर्म करते थे आत्मा का अनुष्ठान अहम ब्रह्मास्म करेगा ऐसे करेगी समय का दोनों करना पड़ेगा शास्त्र दोनों शास्त्र का विधान है दोनों कर्म भी शास्त्र का विधान है और आत्मज्ञान भी है इसलिए कदाचित आत्मज्ञानम कभी कभी तो आत्मज्ञान अहम ब्रह्मास्मि में बैठेगा और कभी कभी कदाचित कर्म अनुष्ठान के साथ कभी कर्म का अनुष्ठान हो ऐसी शंका करता है गुरुवार ये कहा दो की टिप्पणी थी योगपद्य असंभव हो एक साथ तो होना संभव नहीं क्यों देहात्म बुद्धि को बाध करके आत्मज्ञान होना है और देहात्म बुद्धि को लेकर के कर्म होना है तो योगपद्य संभव नहीं दोनों एक साथ होना संभव नहीं अहम मनुष्य अहम ब्राह्मण इस भावना आएगी तो कर्म करेगा और ना हम देह ना हम ब्राह्मण ना हम मनुष्य आएगा नाम हम देह नमे देह आएगा तो आत्मज्ञान होगा विरोधी है इसलिए योगपत्य न करके कदाचित कदाचित बोला पूर्वादि ने कहा ये कहा टिप्पणी में योगपत्य असंभवम अप्रति योग एक साथ होना तो संभव नहीं दिख रहा है क्योंकि विरोधी है दोनों वो खुला करके रहना और ठहाका मार के हंसना जैसा हंसना जैसा है हंसते समय मुंह ना बनता नहीं मुंह खुलाएंगे तो हंसेगा नहीं ऐसी स्थिति हो जाती है ऐसे यहां भी आत्मज्ञान होगा तो देहाभिमान को बाध कर होगा और कर्म होगा तो देहाभिमान पूर्वक होगा विरोधी है इसलिए कदाचित कदाचित कहा कभी आत्मज्ञान हो जाएगा कभी कर्म का अनुष्ठान हो जाएगा दोनों वेद के द्वारा प्रमाणित है वेद ने विधान किया है दोनों को पूर्वादी शंका करता है ये कहा भाष्य में तदपि शास्त्र ने विधीयते छेद अरे बाबा वो आत्मज्ञान भी तो शास्त्र के द्वारा विधान होता है जैसे कर्म शास्त्र के द्वारा विधान है आत्मज्ञान भी शास्त्र के द्वारा विधान है उसको तो तुम मानते हो और कर्म को भी नहीं मानते हो वो भी तो शास्त्र के आदेश है तुम्हारा जो ज्ञान है वो भी तो जो ज्ञान ही बना हुआ है शास्त्र के अनुकूल चल के बना है तदपि मैंने आत्मज्ञान भी शास्त्र ने विधीये चेत गुरुवार ने कहा उसी के आगे व्याख्या है जो संग्रह वाक्य है यथा कर्म कर्तव्य था शास्त्र ने पिता जैसे कर्म में कर्तव्य था अभिनेत्र जुहिया यावत जीवित अभिनोत्रम दिया था आदि वाक्य है यह शास्त्र के द्वारा किया है किसी ने तो बनाया वेद का वचन है ठीक है तथा भी आत्मज्ञान वो जो आत्मज्ञान है हम ब्रह्माष्टमी वाला भाग है वो भी तस्व कर्मणा उसी कर्मी को जो, जो कर्म कर रहा था बाकी दूसरे को नहीं जो कर्म करने वाला था उसी कर्मी को तस्व कर्मिणा शास्त्र दिए जो कर्मी है कर्मकांड में लगा हुआ है उसी के लिए कहा है सिद्धांत करें ना हाँ ये बोलेंगे तदेव विवृत उसी की व्याख्या किया उसने गुरुवादी ने तो तदवि शास्त्र ने विधि ये संग्रह वाक्य व्याख्या किया यथा कर्म कर्तव्यता आदि व्याख्या की सिद्धांत कहते न करके बोलते हैं सिद्धांत बोलते हैं ठीक है स्वाभाविक अकर्तात्म बोधे न सकृत उत्पन्न नहीं वाला कहते स्वाभाविक जो है मैं अकर्ता हूं ऐसा ज्ञान है और औपाधिक है अहम करता शरीर आदि ब्राह्मणत्वादि जाति का उपाधि को लेकर के अहम कर्ता होता है और स्वाभाविक रूप से जब शरीर आदि से अपने को अलग करके देखता है तो अहम कर्ता बोलने की साहस नहीं होगी स्वाभाविक है जो अहम अकर्ता ये कहा ये सिद्धांत कह रहे हैं स्वाभाविक अकर्त आत्म को देना जो स्वाभाविक कर्ता नहीं है आत्मा औपाधिक कर्ता बनता है उपाधि की क्रिया को आरोप करके कर्ता माना गया वास्तव में आत्मा कर्ता नहीं है स्वाभाविक आत्मा का स्वरूप अकर्ता है स्वाभाविक अकर्त्र अकर्त्री आत्मबोध है ना ऐसा आत्मज्ञान के द्वारा मैं अकर्ता हूं ऐसा ज्ञान के द्वारा स्वाभाविक है वो ऐसे ज्ञान के द्वारा सकृत एक ही बार उत्पन्न हो गया हम अकर्ता अभोक्ता ऐसा ज्ञान सकृत उत्पन्न है नहीं हुआ एक ही बार उत्पन्न होने से ज्ञान क्या कर देगा कर्तृता बोध बाधा बाधना जो अहम करता हुआ बोध ज्ञान था उसको बात करेगा क्यों अहम करता देहाभिमान पूर्वक था उसका बात कर देगा जैसे दीपक एक ही बार जल जाए तो सारा अंधेरा एक साथ नाश नाश कर देता है अंधेरा नहीं रह सकता दीपक जलने पर ठीक इसी प्रकार अहम अगर कर्ता बुद्धि हो जाए देहात्म बुद्धि को बाहर करके जो बुद्धि हो जाए तो देहात्म बुद्धि हो नहीं सकती अब कर्तृत्व बुद्धि आ नहीं सकती ये कह रहे हैं सिद्धांत कह रहे हैं एक स्वाभाविक जो अकर्तृ आत्मबोध है ना सकृत उत्पन्न है ना एक ही बार उत्पन्न हो गया अहम अकर्ता असंगता में पहुंचा हुआ व्यक्ति बोलेगा हम अकर्ता होता ये ज्ञान के द्वारा कर्तृत्व बोध बाधना कर्तृता ज्ञान का बाध हो जाने से अहम कर्ता वाले ज्ञान का बाध हो जाता होने से न पुनः न कर्तृत्व बोध संभव थी एक बार बाध हो गया उसका दोबारा फिर कर्तृत्व बोध शास्त्र के द्वारा विधान नहीं किया जा सकता कर्तृत्व बोध पहले अशास्त्र काल में था जब शास्त्र नहीं पढ़ा था उस काल में था मैं करता हूं बोलता था अब शास्त्र पढ़ने के बाद आ गया अकर्तृता बोध आ गया अकर्तृत्व बोध आने पर वो बाध गया बध गया तो बधी ही गया अंधेरा एक बार भग जाए तो भग ही जाता है ऐसा है शीतो सदाम ये अग्नि ये कहते हैं हाँ, अनुपत्य कहा नहीं एकस्मिन कृताकृत तुम तद विपरीतम से बोधे तुम हम सिद्धांत कह रहे हैं एक ही व्यक्ति में कृताकृत का संबंध में कर्तव्य किया कृत और कर्तव्य माने आगे अकृत माने कर्तव्य आगे किए जाने वाला बाद में किए जाने वाले कर्म का संबंधी बनाना किया हुआ कर्म का और कर्तव्य कर्म का संबंधी बनाना और उसके विपरीत हाँ, अहम अकर्ता बना ये संभव नहीं जैसे शीत और स्नताम विभाग ने कहा जैसे शीत और स्नता एक साथ अग्नि में विधान करना संभव नहीं एक ही धर्म होगा या तो शीत होगा या उष्ण होगा अग्नि उष्ण है शीतल लगाना संभव नहीं इसी प्रकार कर्तृत्व का बात करना पड़ेगा ये कहा ठीक अभी कहते हैं कृताकृत इत्यत्र जो कृताकृत शब्द भाष्य में दिया है वहां क्या करना है कृतम इदानी इस समय किया हुआ अकृतम माने परम कर्तव्य आगे किए जाने वाला यह तत्व उचित इसी कहा है ये दोनों का संबंधी बनाना और अकर्तृ आत्मबोध होना दोनों संभव नहीं एक साथ आगे टीका में एवं तावत नियोगा विषय अकर्तृ आत्मदर्शित्वाद विदुषा परम प्रयोजनार्थित्वाभावाच विदुषो न कर्म की उत्तम अब तक यही सिद्ध किया सिद्धांत ने नियोग का अभिषय होने के कारण वेद का आदेश का विषय नहीं बनता आत्मज्ञान तो वेद भी उसी से उत्पन्न हो जाता है क्यों आत्मज्ञान आत्मव्यता जो हो गया है वो ईश्वर से परमात्मा से अभिन्न हो गया है परमात्मा से वेद निकलता है ऐसी स्थिति है इसलिए क्या होगा वो परमात्मा से अभिन्न होने से उसी से निकला हुआ हो जाता है अपने निकली हुए वाणी के द्वारा स्वयं नियुक्त नहीं होता कोई भी व्यक्ति ये देखा एवं तावज्य सिद्ध कर दिया वेद उसको नियंत्रण नहीं कर सकता कर्म करना पड़ेगा करके यह सिद्धांत ने सिद्ध किया वक्त आवत योगा विषय योग का जो विषय है वेद का आदेश का विषय नहीं होता योग अकर्तृ आत्मदर्शित्वाद अकर्ता आत्मबुद्धि में पहुंचा हुआ है वो ज्ञानी ऐसी स्थिति होने से विदुषा उस ज्ञानी का परम तो अभावाच और कोई प्रयोजन परम प्रयोजन उसको कोई चाहिए भी नहीं स्वर्ग चाहिए ना पुत्र चाहिए कुछ चाहिए भी नहीं प्रयोजन की इच्छा हो जाए फलेच्छा तब क्या साधन इच्छा में लग जाता है कर्म करता था स्वर्ग की इच्छा हो गई तो अग्निहोत्रादि कर्म करने लगेगा व्यक्ति जिसको स्वर्ग की इच्छा नहीं है काम में कर्म क्यों करेगा तो परम प्रयोजनार्थित्व अभावाचा कहा उसको कोई फल फल की इच्छा भी थी उसके पास इसलिए विदुषो न कर्म उत्तम अब तक ये कहा ज्ञानी कर्म नहीं कर सकता तो इसलिए आत्मज्ञान जो है कर्म संबंधी नहीं है कर्मी संबंधी भी नहीं है कर्मी को भी नहीं कर्म संबंधी भी नहीं सिद्ध किया अब इरानी अब क्या कहना चाहते हैं इधानी स्वतः इष्टानिष्ट संयोग वियोग रूप प्रयोजनार्थता विदुषा स्वर्ग काम एजत शास्त्रेण साथी अधीयती आशंक्य स्वभावतः प्राप्त प्रयोजनार्थितानुवादेना तद उपाय मात्र शास्त्र बोध्यते न तो सापी आधीयते अन्यथा अशास्त्र ज्ञानाम तदर्थता इतिहास कहते हैं अब क्या ये कहना चाहते हैं पूर्वादि बोलेगा महाराज स्वतः इष्टादिष्ट संयोग वियोग प्रयोजनार्थ सबके लिए दो प्रयोजन होता है ज्ञानी अज्ञान से इष्ट योग अनिष्ट वियोग इसके प्रयोजन के लेकर साधन में लग जाता है तो ज्ञानी का भी होगा इष्ट योग और अनिष्ट योग तो चाहिए ही होगा उसको तो उसको भी तो कर्म करना पड़ेगा जो तो इष्ट योग चाहता है कर्म करेगा अनिष्ट योग जाएगा कर्म करेगा यही है ये शंका है इधानी स्वतः इष्टानिष्ट संयोग वियोग रूप प्रदान प्रयोजनार्थ का इष्ट का संयोग रूप प्रयोजन के इच्छा और अनिष्ट के वियोग के प्रयोजन की इच्छा है प्रयोजन रूप इच्छा होने से इसका अनुवाद के द्वारा विदुषा ज्ञानी को भी स्वर्ग काम यजेता इति शास्त्रेण जो स्वर्ग काम यजेत वाक्य है स्वर्ग चाहने वाला यह करे आया हुआ है इष्ट संयोग चाहता है इसलिए यह करना है उसको इसको भी इष्ट चाहने के कारण करना पड़ेगा यही कहना चाहते हैं सा भी यते कहते हैं वह भी होगा हाँ, मान ये होगा उसको प्रयोजनार्थित्व का भी आदेश होगा इच्छा का भी इच्छा का इच्छा का भी विधान किया जाएगा इस शंका करके कहते हैं सा पी तीन नंबर की टिप्पणी कहा सा माने प्रयोजनार्थिता जब इष्ट योग चाहता है अरिष्ट योग चाहता है तो प्रयोजनार्थिता भी होगा प्रयोजन भी होगा वो भी यहाँ आजाम किया जाएगा कहा स्वभावतः प्राप्त प्रयोजनार्थता स्वाभाविक प्राप्त है प्रयोजनार्थता तद उपाय मात्र शास्त्र देते न तो साथ ही आदि सिद्धांति कहते हैं भाई स्वर्ग काम ये जो वाक्य आता है स्वर्ग की इच्छा पहले से बनी हुई है उसको उसको विधान करना नहीं पड़ता स्वर्ग की इच्छा केवल उसके इच्छा की पूर्ति के लिए अगर माने यहाँ यज्ञ की विधान करना पड़ता है वेदांत एक एक है एक एक करो अगर स्वर्ग चाहते हो तो एक एक करो स्वर्ग को चाहो करके ये नहीं बोलेगा वेद कभी नहीं बोलेगा फलेच्छा वो वेद के द्वारा विहित नहीं है साधन वेद के द्वारा विहित है स्वर्ग तो सब चाह रहा था पहले स्वतः प्राप्त उसको इच्छा थी स्वर्ग प्राप्ति इष्टयोग की इच्छा स्वतः ही है उसको विधान नहीं करना पड़ता शास्त्र को केवल उसका साधन का विधान करना पड़ता है तुम स्वर्ग चाहते हो तो क्या करो क्यों करो ऐसा कहा ये सिद्धांत बोलना चाहते हैं तो स्वभावतः प्राप्त प्रयोजनात्मवाद है ना तब उपाय मात्र शास्त्र बोध्य थे वो शास्त्र के द्वारा उसी का ही ज्ञान दिया जाए उपाय माने साधन का शास्त्र के द्वारा ज्ञान कराया जाता है केवल वहां यज्ञ का विधान कर दिया जाता है शास्त्र के द्वारा स्वर्ग काम माने स्वर्ग की इच्छा तुम्हें है तो यज्ञ पर बोलते न तो साथ ही फलार्थिता वो शास्त्र के द्वारा विधान है फलेच्छा फलेच्छा तो पहले से लगी हुई है तभी तो शास्त्र ने बोला तुम ये चाहते थे तो करो ये कहा अन्यथा अशास्त्र ज्ञान पदार्थता नशा नहीं तो अशास्त्र के जो गोपाल आदि होंगे गाय चराने वाली होगी शास्त्रज्ञ नहीं है जो लोग उनके लिए फलेच्छा नहीं होनी चाहिए अगर शास्त्र की तरह विधान होना हो जो शास्त्र नहीं पढ़े हैं तो फलेच्छा उनको नहीं होनी चाहिए थी किनको जो शास्त्र नहीं जानते हैं किंतु फलेच्छा उनको भी होती है स्वर्ग की इच्छा उनको भी होती है शास्त्र नहीं जानते इसका मतलब जो फलेच्छा जो है शास्त्र के द्वारा विहित नहीं है केवल साधन शास्त्र के द्वारा विहित है यह सिद्धांत बोलना चाहिए एक आगे टिप्पणी चार की है अन्यथा वाक्य भेदा दो वाक्य बनाना कहते हैं इच्छाया कृति असाध्य तेना इच्छा जो है ना प्रयत्न साध्य नहीं इच्छा होने की वस्तु करने की वस्तु नहीं है इच्छा जो है होने की है करने की वस्तु नहीं है प्रयत्न साध्य नहीं है इच्छा यह स्थिति इच्छा या कृति असाध्य तेरा प्रयत्न असाध्य होने से अविधेयत्व जो इच्छा को विधान नहीं कर सकते कोई ये करो करके इच्छा करो बोल नहीं सकते इच्छा प्रयत्न का विषय नहीं है वो तो होने का विषय है तो कृति असाध्य होने से अविधेय है विधेयक तो नहीं आता इच्छा में यदि दोष द्वये सत्यव ऐसा दोष होने एक तो कृति असाध्य है और दूसरा अविधेयत्व है विधान भी नहीं होता सत्यव दोषांतरमा ये और दोष देते हैं अन्यथा कहा यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या होगा फलेच्छा की विधान करना हो शास्त्र में फलेच्छा के भी विधान करना हो इष्टयोग की इच्छा योग की इच्छा ये फलेच्छा करना हो तो सुस्ता प्राप्त है और शास्त्र के द्वारा विधान नहीं करना पड़ता है इष्ट योग और अनिष्ट योग की इच्छा स्वतः प्राप्त है माने जो पढ़े लिखे नहीं है उनको भी इष्ट योग चाहते ही है वो इच्छा है उनके पास और अब शास्त्र के द्वारा विधान करना हो तो दोष आ जाएगा क्या आएगा जो पढ़े लिखे नहीं है गोपाल आदि उनको फल इच्छा नहीं होनी इष्ट योग अनिष्ट योग की इच्छा नहीं होनी चाहिए होती है उनकी भी गोपाल आदि है उनकी भी होती है इसके मतलब वो इष्ट योग और अनिष्ट योग की इच्छा शास्त्र के द्वारा विहित नहीं है ये सिद्धांत कहते हैं चकर के कहा भाषण का कहा नच इष्ट योग चिकित्सा इष्ट योग के जो इच्छा है और आत्मनो अनिष्ट वियोग चिकित्सा अपना जो अनिष्ट का वियोग की इच्छा है तो शास्त्र कृता न न शास्त्र कृता इष्टयोग की इच्छा अनिष्ट वियोग की इच्छा शास्त्र कृत नहीं है क्यों स्वतः ही प्राप्त है स्वाभाविक सभी को होता है जो शास्त्र पढ़े लिखे नहीं है वो भी जानते हैं इष्टयोग की इच्छा उनकी भी होती है इष्ट वस्तु मिले ऐसी इच्छा उनकी भी होती है अनिष्ट वस्तु का वियोग हो इसलिए इच्छा उनकी भी होती है शास्त्र कृत नहीं है इष्टयोग की चिकित्सा इच्छा और अनिष्ट वियोग की इच्छा सर्व प्राणी नाम तत्दर्शना ये तो प्राणी मात्र में देखा है इष्टम में भूया अंतम महाभूत ऐसे सभी प्राणी की होती है इष्टयुग की इच्छा सभी की होती है शास्त्रकृत हो तो, तो शास्त्रज्ञ को ही होना चाहिए जो तो शास्त्र पढ़ा है उसी को होना चाहिए इच्छा किंतु सभी को होती है इसलिए इष्टयुग की इच्छा अनिष्टयुग की इच्छा जो होती है सर्व प्राणी में देखा है इसलिए शास्त्रकृत नहीं है शास्त्रकृतम चेत यदि इष्टयोग की इच्छा अनिष्टयोग की इच्छा ये दोनों शास्त्रकृत हो यदि शास्त्र के द्वारा विधान होता हो तो उभयम ये दोनों के दोनों इष्ट योग की इच्छा और अनिष्ट योग की अनिष्ट योग की इच्छा गोपाल आदि नाम दृश्य था जो गाय पालने वाले होते हैं मूल बुद्धि वाले हैं जड़ बुद्धि वाले हैं उनको नहीं होना चाहिए वो भी इष्ट योग की इच्छा करते हैं और अनिष्ट योग की इच्छा करते हैं इसके मतलब शास्त्रकृत नहीं है वो अशास्त्रज्ञत्वात्म क्यों वो लोग शास्त्रज्ञ नहीं है तो उनको इष्ट योग की इच्छा नहीं होनी चाहिए अगर शास्त्र के द्वारा विहित होता हो इष्ट की इष्ट आदि भी विधान हो तो उनको नहीं होना चाहिए किंतु होती है इच्छा इष्ट योग की इच्छा अनिष्ट योग की इच्छा उनकी होती है इसे ये शास्त्रकृत नहीं यदि तो अप्राप्तम तस्त्राण बोधेगा जो स्वतः अप्राप्त हो स्वतः प्राप्ति के लिए शास्त्र के द्वारा ज्ञान नहीं कराना इष्ट योग की इच्छा अनिष्ट योग की इच्छा स्वतः प्राप्त है वो शास्त्र के द्वारा विधान करने की आवश्यकता नहीं है शास्त्र क्या है अज्ञात ज्ञापकत्व शास्त्र शास्त्र होता है अज्ञात वस्तु को ज्ञापन कराए तो शास्त्र होता है ज्ञात वस्तु को ज्ञान कराने वाला शास्त्र नहीं होता तो यदि स्वतो अप्राप्तम स्वतः प्राप्त नहीं है जो वस्तु वह तत्शास्त्रेण बोधयुक्तम वही शास्त्र के द्वारा उसी का ज्ञान कराना उचित होता है इसलिए तचेत कृतकर्तव्यता विरोधी आत्मज्ञान शास्त्र के द्वारा वो जो कृतकर्तव्यता का विरोधी आत्मज्ञान शास्त्र के द्वारा यदि पैदा हो गया है शास्त्र ने कर दिया कृतकर्तव्यता का विरोधी तो जो आत्मज्ञान ना हम करता ना हम भोगता ऐसी बुद्धि होकर के आत्मज्ञान हो गया शास्त्र ने किया कथम तद विरुद्धाम कर्तव्यताम पुनरुत्पाद है फिर उसके विरुद्ध जो दोबारा उसके कर्म कर्तव्यता कैसे शास्त्र विधान करेगा शीतताम हाँ, इव अग्नऊ जैसे अग्नि में शीतता ठंडा पना का विधान कोई कर सकता है क्या नहीं कर सकता इसी प्रकार उस आत्मज्ञानी में शास्त्र कैसे कर्तव्य का ज्ञान विधान करेगा नहीं कर सकता अथवा तमा इमित भानव जैसे सूर्य में अंधकार का विधान कौन कर सकता है कोई नहीं कर सकता उसी प्रकार उस ज्ञानी को कर्म का आधान कौन करेगा कोई कर नहीं सकता ये कहा टीका से अत्र चिकित्सा शब्द है ना फलेच्छा मात्र है जो इष्ट योग चिकित्सा आत्मनो अनिष्ट विव चिकित्सा चिकित्सा मैंने कर्तुम इच्छा चिकित्सा डुकरे करने धातु से श्रम करके समासन का विक्षेप करेगा तो चिकित्सा बनेगा तो यहाँ कर्तव्य इच्छा को करने की इच्छा को चिकित्सा कहते हैं ऐसा नहीं यहाँ पर क्या है चिकित्सा शब्द का अर्थ टीकाकार कहते हैं अत्र चिकित्सा शब्द है यहाँ जो चिकित्सा शब्द दिया इसके द्वारा फलेच्छा मात्र उचित है फलेच्छा फलेच्छा शास्त्र के द्वारा विहित नहीं है फलेच्छा स्वतः है स्वाभाविक है सभी चाहते हैं जो शास्त्र पढ़े लिखे नहीं उनकी भी फलेच्छा होती है फलेच्छा शास्त्र के द्वारा विहित नहीं है कहा फलेच्छा मात्र होगी तो कर्तुम इच्छा या कर्तुम इच्छा चिकित्सा ऐसे अर्थ नहीं करने की इच्छा को चिकित्सा नहीं कहा फलेच्छा को कहा या चिकित्सा शब्द का तो मतलब फलेच्छा कहा क्यों फले तद योगा फल में चिकित्सा करने की इच्छा नहीं फल करने की नहीं करने की इच्छा साधन में होती है फल प्राप्त हो जाता है स्वाभाविक हो जाता है फल को बनाया नहीं जाता फल को करने की इच्छा नहीं होती करने की इच्छा साधन में होती साधन की इच्छा हो गई साधन किया तो फल मिल जाएगा ये कहा फले तद योगा फल में चिकित्सा नहीं हो सकती है तुम इच्छा नहीं हो सकती है फल तो स्वाभाविक पैदा होना बात साधन की इच्छा होती करने की इच्छा कहां होती साधन में फल की करने की इच्छा नहीं होती फल सुनाई पड़ा साधन करने की इच्छा हो गई स्वर्ग मिलेगा करके यज्ञादि करने की इच्छा हो गई स्वर्ग करने का विषय नहीं तो प्राप्त होने का विषय है यज्ञादि का परिणाम है साधन करने की इच्छा साधन में होती है फलेच्छा करने की इच्छा नहीं होती फले तद योगा पांच की टिप्पणी फले फल से कृति अभिषेक फल जो है ना प्रयत्न का विषय नहीं है फल साधन होता है प्रयत्न करके साधन को निष्पन्न कर दिया जाता है फल निष्पन्न करना संभव नहीं है कर्मण्य बाधिका रस्ते मां फलेश पदार्थ गीता में कहा है फल तुम्हारे हाथ में नहीं है कर्म तुम्हारे हाथ तो फल से कृति अविषय टिप्पणी का फल प्रयत्न साध्य नहीं है हाँ साधन प्रयत्न साध्य है साधन होता है प्रयत्न साध्य ये कहा अच्छा ठीक है कहते हैं ननु कृताकृत संबंधित्व तद विपरीतत्व से विरुद्धत्व न बोधित शास्त्र पूर्वादि कहता महाराज कर्म का संबंधी बनाना कृत कर्म अकृत कर्म पूर्वकृत कर्म और आगामी कर्म दोनों का संबंधी बनाना असंबंधी बनाना संबंधी बनाना कृताकृत असंबंधित्व कृताकृत के जो असंबंधी बनाना आत्मज्ञान को कर्म का संबंधी नहीं बनाना असंबंधी और तद विपरीतम संबंधी बनाना तद विपरीतम मैंने कर्म संबंधी बनाना विपरीतम जब विरुद्धत्व विरुद्ध होने से न बोध यदि शास्त्र यदि शास्त्र बोध नहीं कराता ऐसा दोनों मैंने आत्मज्ञान और कर्म एक साथ बोध नहीं करा सकता कृताकृत असंबंधित्व आत्मज्ञान और तद कृताकृत संबंधित्व ये दोनों के दोनों विरुद्ध होने से शास्त्र बोध ज्ञान नहीं करा सकता है एक साथ ऐसी स्थिति में तरी कृताकृत असंबंधित्व में महाबोधि फिर कृताकृत असंबंधी को ज्ञान न कराए मैंने आत्मज्ञान मत कराए क्योंकि दोनों शास्त्र का ही विधान है तत्वसी के भी शास्त्र का विधान है और अवगोत्र भी शास्त्र का विधान है आपने तर्क दिया दोनों हो नहीं सकता है क्योंकि आत्मज्ञान होने पर कृताकृत संबंधी ज्ञान नहीं होगा बोला तो दोनों नहीं हो सकता है तो उल्टा क्यों नहीं माना जाए ऐसी स्थिति में दोनों नहीं हो सकता तो तद विपरीत तथ्य तो तर ही कृताकृत असंबंधी जो मानी जो कृताकृत असंबंधी जो आत्मज्ञान है कर्तव्य कर्म के साथ में संबंध न रखने आत्मज्ञान ही ये महाबोधि वही बोध न कराए शास्त्र उसको आत्मज्ञान का ज्ञान न कराए कर्म का ही ज्ञान कराए तत्वसी आदि बात के मान ज्ञान पैदा न करा ये शंका ऐसा शंका कर कहते हैं सिद्धांत बोलते हैं तस्य मानांतर सिद्ध अन्य प्रमाण के द्वारा सिद्ध है इसलिए अवश्यम शास्त्र बुद्धत्व वक्तव्य तस्य मानांतर असिद्धत्व अन्य प्रमाण से सिद्ध नहीं है केवल यह शास्त्र से ही सिद्ध है आत्मज्ञान मानांतर असिद्ध अन्य प्रमाण प्रत्यक्षादि विषय सिद्ध नहीं है तत्व ना अवश्यम शास्त्र बुद्ध अवश्य शास्त्र के द्वारा ही उसको ज्ञान कराना पड़ेगा आत्मज्ञान को ऐसा कहने पर तद विपरीत तत्व से मानांतर सिद्ध व न शास्त्र बुद्धित्व इसलिए उसके आत्मज्ञान के जो विपरीत ज्ञान है कर्मकांड संबंधी ज्ञान मानांतर सिद्ध है द्वैत अवस्था बनाने वाला है प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध है वो उसका शास्त्र बुद्धित्व न शास्त्र बुद्धित्व विरुद्धत्व शास्त्र बुद्धित्व नहीं आएगा कर्मकांड आदि मार्ग में ये कहा यदि ही इत्यादि कहा था यदि हो अप्राप्तम तत्शास्त्र में बोधित स्वतः अप्राप्त हो कोई शास्त्र के द्वारा ज्ञान कराना चाहिए स्वतः प्राप्त को नहीं करना चाहिए अद्वैत जो होता है वो शास्त्र के द्वारा ज्ञान कराने की विषय द्वैत सभी जानते हैं उसको शास्त्र के द्वारा ज्ञान कराने की आवश्यकता नहीं है ये कहा चेत यदि है वह चेत शब्द है उसका अर्थ होता है निश्चय अर्थ है कहा ये जो सर्व प्राणी नाम तचेत कृत कर्तव्यता विरोध में चेत है निश्चय के लिए ये कहा इदम कृतम इदम कर्तव्यम यदि ज्ञान विरोधी इत्यर्थ कृत कर्तव्यता विरोधी का अर्थ इदम कृतम ये कर लिया मैंने और इदम कर्तव्य बाकी ये कर्तव्य है आगे ऐसा ज्ञान का विरोधी यदि आत्मज्ञान है तो क्या करना यहाँ फिर दोनों के दोनों ऐसा होता विरोधी होता हो तो आत्मज्ञान न हो वो जो तत्वशी आदि वाक्य ज्ञान न कराए अग्निहोत्र विवाद आदि वाक्य ज्ञान कराए ऐसा माने तो सिद्धांत कहा नहीं क्योंकि जो जो स्वतः अप्राप्त होगा शास्त्र के द्वारा ज्ञान कराया जाता है बोधित होता है स्वतः अप्राप्त आत्मज्ञान है इस सिद्धांत कहा आगे टीका में विधि अभाव वेदांता ना न तादृक आत्मबोधकत्व आशंका पूर्वादि बोलता है महाराज आत्मज्ञान नहीं करा सकते वेद वाक्य क्यों विधि वाक्य नहीं आत्मज्ञान पर वाक्य में विधि नहीं है विधान नहीं है विधि वाक्य नहीं है विधि अभाव है कर्म करने के लिए भी विधि वाक्य है यजेता आदि वाक्य है आत्मज्ञान वाले में कहीं विधि वाक्य नहीं आता विधि अभाव है ना वेदांता नाम जो वेदांत वाक्य है आत्मज्ञान परक वाक्य वेदांत वाक्य में विधि का अभाव भी लोट तबियत नहीं है सब तो में कहा है लट लकार का प्रयोग है आत्मा ब्रह्म कहा विधि वाक्य कहा लिप लोट तबियत कहा है वहां प्रज्ञानम ब्रह्म कहा है वहां अयम आत्मा ब्रह्म चारों महावाक्य में कुछ नहीं दिखता विधि वाक्य नहीं दिखता है न लिंग लगा रहे न लोट लगा न तब्यत प्रत्यय कुछ भी नहीं ये पूर्वादि की शंका विधि अभाव है ना वेदांता नाम जो वेदांत वाक्य है तत्वमसी आदि महावाक्य हैं उनमें विधि का अभाव होने से लिंग लोट तब्यत को विधि मानते हैं विधि का अभाव होने से तादृक आत्मबोधकत्व न उस प्रकार के आत्मबोधक नहीं होगा असंग आत्मबोध का बोध नहीं करा सकते जो विधि नहीं है इति आशंक पूर्वादि की शंका करके सिद्धांत बोलते हैं पुरुष से कर्तव्याभिमुखा करणार्थत्वाद विधि विधि का क्या अर्थ होता है जो पुरुष को कर्तव्य के प्रति अभिमुख कराना विधि का काम होता है घटो अस्थि पश्य बोलते हैं तो पश्य माने उसको एकाग्रता कराने में तात्पर्य विधि वाक्य ये पश्य लोट लगा रहे उसका तात्पर्य होता है अभिमुखी करना कर्तव्यता के प्रति अभिमुखी कराना विधि का अर्थ होता है वो अर्थ यहां भी आता है किसमें ये जो वेदांत वाक्य है ये सिद्धांत बोला जा रहा है पुरुष से कर्तव्य कर्तव्य अभिमुखी करणार्थवाद विधेय विधि का ये तात्पर्य होता है कि व्यक्ति को कर्तव्यता के प्रति अभिमुखी करना कराना उसका काम होता है विधि वाक्यों का काम होता है यही है कर्तव्यता दिखाना उसका अभिमुखी करना इसलिए यह आत्मज्ञान अभिमुख करणार्थ ये वाक्य जो आते हैं अयम आत्मा ब्रह्मादि वाक्य जो आते हैं आत्मज्ञान के तरफ कराने के लिए वाक्य होते हैं तो विधि न होने पर भी वही काम ये करते हैं जो विधि वाक्य का जो अर्थ आता है वही अर्थ इनमें है एक अर्थ है ये सिद्धांत कह रहे हैं पुरुष से कर्तव्य कर्तव्याभिमुखी करणार्थत्वाद विधे विधि का प्रयोजन यही होता है पुरुष जो होगा मनुष्य उसको कर्तव्य के तरफ अभिमुखी करना विधि का काम होता है यजे तो स्वर काम सुनेगा तो कर्तव्य मेरा कर्तव्य समझेगा करने लग जाएगा तो विधि वाक्य का ही प्रयोजन होगा इसी प्रकार यहां भी यह माने वेदांत वाक्य जो वेदांत वाक्य है इसमें भी आत्मज्ञान अभिमुख्य करणार्थम आत्मज्ञान के अभिमुख्य करने के लिए होते हैं वाक्य विधि स्वरूप से अर्थवाद विधि जैसा है किंतु अर्थवाद वाक्य है ये विधि वाक्य जैसे हैं विधि तो नहीं विधि छाया अर्थवाद वाक्य है अर्थवाद से सत्वाद ऐसा वाक्य यहाँ है वेदांत वाक्य में विधि तो नहीं विधि जैसे विधि जो काम करते वो काम यहाँ कर जाते हैं विधि वाक्य का अर्थ होता है पुरुष को कर्तव्य कर्तव्यता के प्रति अभिभूति कराना ये काम होता है ये काम यहां भी हो जाता है वेदांत इसलिए विधि स्वरूप से अर्थवाद से विधि स्वरूप जो अर्थवाद है उसका होने से स्वरूप बोधक से तत्पर वाक्य सत्वाच्य और स्वरूप बोधक तत्पर वाक्य भी है ब्रह्मपरक वाक्य यहाँ है स्वरूप बोधक वाक्य है इसलिए नैवम इति उत्तम ये नहीं हो सकता है आत्मबोधकता आ जाएगा आत्मज्ञान करा सकते हैं वाक्य कहना चाहते हैं टिप्पणी दो की तीन की दो में कहते हैं विधि स्वरूप से अत्र विधि स्वरूप से उत्तम या विधि स्वरूप से अर्थवाद से दो पंक्ति दो शब्द है टीका में वहां टीकाकार कहते हैं अर्थवाद से की आवश्यकता नहीं है केवल विधि स्वरूप से इतने से काम चल जाता है उत्तम यथाश्रुतम तो अगर अर्थवाद से भी है तो क्या करना है विधेय स्वरूपम विप स्वरूपम यश्य विधेया व्याख्यान कहा ऐसा होगा कि विधि का स्वरूप जैसा स्वरूप है जिसका विधि वाक्य वो कर्मकांड में विधि वाक्य के स्वरूप के समान स्वरूप है जिसका वेदांत वाक्य का ऐसा अर्थ ये तो विधि स्वरूप से अर्थवाद से है ना हाँ। तो विधि स्वरूप अर्थवाद रहा होगा हाँ, या स्वरूप अर्थ लेना है स्वरूप अर्थ लेना है ये कहा ये कहते हैं नैव कहा पूर्वादि का न बोधयती ये वैति चेत ये कहा वेदांत वाक्य आत्मा का ज्ञान नहीं कराता तत्वसी आदि कराने से ज्ञान नहीं कराता क्यों निर्लोट तबियत नहीं है विधि वाक्य नहीं हुआ अयम आत्मा ब्रह्म तत्वसी लट लगा रहे अयम आत्मा ब्रह्म में तो कुछ क्रियापद है ही नहीं प्रज्ञानम ब्रह्म क्रियापद है ही नहीं अहम ब्रह्माष्टमी लट लगा रहे वहां न लिंग है न लोट है न तब्य है इन्हीं को विधि वाक्य बोलते हैं आमना से क्रिया तत्व अनर्थकम अथर्थाना मीमांसा को ऐसा मानते हैं कोई वाक्य सुनने के बाद में कुछ क्रिया पे श्रोता लग जाए कर्म करने लग जाए वो वाक्य वेद होता है बाकी सुनने के बाद कुछ नहीं करता तो क्या उसका प्रयोजन क्या सिद्ध होगा आमना से क्रिया तत्व तो उपदेश होता है क्रिया के लिए तो विधि वाक्य होते हैं क्रिया के लिए यजेत तो सुनेगा तो कर्म में लग जाएगा व्यक्ति तो पूर्वादि का न बोधाई थे बचे वेदांत वाक्य आत्मज्ञान नहीं करा सकता ऐसा कहते तो सिद्धांत कहते हैं न अर्थवाद वाक्य है समय आत्मा इति विद्या ऐसा वाक्य आया वो मेरा आत्मा है ऐसा जाने ऐसा वाक्य आया प्रज्ञानम ब्रह्म इति तो उपसंहारा और यहाँ अयम आत्मा ब्रह्म से आरंभ करके प्रज्ञानम ब्रह्म उपसंहार हुआ है अयम आत्मा ब्रह्म से आरंभ होगा ये उपनिषद में और अंत में कहेंगे प्रज्ञान ब्रह्म उपसंहार होने से तद तद आत्मान अवे उसने अपने को ही जाना ऐसे वाक्य आता है वृद्धार्थ में तब तो बस ये वाक्य आता है छांद में इतम आदि हम तत्परत्वात आत्मज्ञान परत्वात इत्यादि वाक्य जो है आत्मज्ञान सिद्ध करने वाले हैं ये विधि न होने पर भी कहा उत्पन्न से जो तो ब्रह्मात्म विज्ञान से अबाध्य माना था वो तो उत्पन्न हुआ जो तो ब्रह्मात्म विज्ञान होगा बात नहीं होगा किसी के द्वारा भी जैसे रज्जु में सर्प ज्ञान होता है बाधित हो जाता है किंतु तो उत्पन्न आत्मज्ञान बाधित नहीं इसलिए भ्रांति ज्ञान नहीं बोल सकते आत्मज्ञान को उत्पन्न ज्ञान बाधित होता है भ्रांत होता है ज्ञान जैसे रज्जु में सर्प ज्ञान हो गया बाद में बाद हो जाता है वो भ्रांत है भ्रांति है किंतु ऐसा भी नहीं है भ्रांति भी नहीं बोल पाएंगे उत्पन्न से जब ब्रह्मात्म ज्ञान से अबाध्य मानवता न अनुत्पन्नम भ्रांतम व सत्यम बहुतम वेदांत जन्य वाक्य के द्वारा आत्मज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ ये भी नहीं कह सकते हैं और वो भ्रांति है भी नहीं, नहीं कह सकते वो मिथ्या है भ्रांत है भी नहीं कह सकते टीका से फिर देखेंगे समय हो गया है ओम मन मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठिता आदिरावी मानी कृतं मे मा प्रहासीतेन गात्रां सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं अवतु अवतु अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति